चंपा दे बाई थाल भर के लेकर गए और वही पीर का चीर होड कर गए और भरथाड़ और खटखट पैड़ी महलन से उतर गए और चौपन में आई तो गोपी चंद तक तो डोलिन में देख बहन गोपी चंद की सूरत मूर्त तो, हाँ जरूर तेरी भाई, भाई की सूरत को मिला है पर गोपी चंद या जोगी बन रहा काई को आगो काई काम जो जोगी बन रहा धर दो त्यारो पत्थर बाबा जी तेरा पत्थर भर दूंगी मैं टेल रे जन्म धर की तो को रोटी मैं हीरा झमारा आई तू काय को घर घर डोले तू बैठो बैठो खा जो गोपी चंद राजा खै बोले गो हरी बहन ऐसा तो माल खजाना में बहुत छूट आयो मैं छूट आयो कंचन वरना महल रही माँ के जाई तो सु मिलवा को आयो मोको माता ने जोग दियो मैं तो तुझे तो मिलवा खातर आयो नहीं मोह या माया की कोई चांत ना है बाबा जी कोई ठगिया मुलक को बस तू ठगवा को आयो है ना तने बांधे से भी कही गोपीचंद राजा काय को आए गो और गोपीचंद आए गो जन्ने तो दिन की रात हो जाएगी वो ऐसा भेष में किया है वो मेरे ना माँ बापन को ना बता तक काय ना है मेरा माँ बापन को अरे पिता तिलोक चंद्र माता मैणावंती भरतरी की बहना चंपा देखे बोलेगी बोले कोई पर सुन लिया तेन उनको तो जमन ना जाने ना मेरा पीरा के पाम में पदम है और माथा पे चंद्रमा है वो वर्ण पता दे जब तुम्हें तो गोपी चंद मानने में तो आज मानू तो काल मान अब गोपी चंद दिल में करे जो तेने ये वर्ण बताया तो बताते बताते भेड़ जो खत्म हो जाएगी अरे माँ की जाई तुम उस मिल ले और मैं गोपी चंद राजा हूँ मैं तो उसे मिलवा खातर आयु के नाम ना मोको तो वो संहिता बता दी जब तू तो गोपी चंद मान नहीं, नहीं मान गोपीचंद ने लियो रे गोरख बाबा गोरखनाथ को नाव रे चरण वर्ण वही पर त्याया पांव पदम माथा पे चंद्रमा बहन ने गोपीचंद पिछाणियों जबकि सात रे हैकारो खार तजगी तो पछाड़ खार है कारा सुकरान गोपीचंद ने भगर बात भर ली रोबा लग गो गोपीचंद ले भाई जुलम होगी जो तेरी बहन को तू ये वर्ण नहीं बतावे तो बहन खत्म नहीं हो तो उसको बांधी रो उसको गोपीचंद तो बिल्लाप मच गयो और वहां बाबा गोरखनाथ को धोनो के भाई चरपट चेला गोपीचंद बहन तो मिलवा गयो पर ई सारी भक्ति के अपने के दोष लगवा देवा के तो बहन खत्म हो ली तो बोले बोले भाई बेटा चलनो पड़ेगा और भैन वाकी अपन को सरजीवन करनी पड़ेगी तो बोले चरपट चेला तो कह बोले बहु गोरनाथ बोले बेटा संगत जा तुका झंडा झोड़ी ने चौदह से चेला प्रकट चौदह से चेला गोपत बेटा तुम तो जो धोना के मायरे में वो गोपी चंद लिया हूँ और वह भैने वा किए बैठी करियाऊँ और ने अपनी सारी भक्ति के दोष लग जाए और सारा वाक तो कैसे गोरखनाथ जी और चरपट चेलो और जार बहन के पहुंचे हैं और वहां गोपी चंद और बहन का बात भर्रा किए और गोपी चंद रोता पावे चल तो साधु मोली और लाल लहरिया वाली लाल लहरिया वाली अजब लहरिया वाली तन चलता तो साधु मोया लाल लहरिया वाली रे मारा महाराजरू ने बाल लगाया बिच बिच के सर क्यारे घोड़े पास को केड़ा लगाया बीच में केसर क्या रे तन रमता तन चलता साधु मोया ये लाल लहरिया वाले रंग थोड़ा रंग थोड़ा रंग थोड़ा प्रसाद मोया ये लाल लहरिया वाली तन चलता साध मोया ये लाल लहरिया वाली मारा गुरु ने ताले खुदाया ताले खुदाया बड़ा भारी मारा गुरु ने ताले खुदा પાળ જગેરે નાવા કીછ ન્યાળે તન રમતા તન ચલતા તન ચલતા સાધ મોયા લાલ લરિયા વાળે તન રમતા સાધ મોયા रंग थोड़ा रसाद मोलिया ये लाल लहरिया वाली मारा गरु ने सेज बिछाई सेज बिछाई बड़ी भारी मारा गरु ने सेज बिछाई सेज बिछाई बड़ी भारी पास तकिया लगाया पौडन की छिप न्याले रम थोड़ा चलता था साथ मोया लाल लहरिया वाले रम थोड़ा साथ मोया लाल लहरिया भणक मचंदर सरजत गोरख महल किणाया थोड़े पास को देख लो बारा के छे बजाने रंग थोड़ा साथ मोया ये लाल लेरिया वाले तन चलता साथ मोया छंदर सुन जति गोरख ये पद है निर्वाणी भणक मचंदर सुन जति गोरख ये पद है निर्वाणी या पद के कोई करे खोज ना बैठो जाए बिवाणी तन चलता साधु मोया ये लाल लहरिया वाड़े रम थोड़ा

toy or a rat mary and jolly to joy रे बेटा चलते चले आ पाए और रे गोपी चंद तो रे मरे पटे सोर चेलो दोनों चले दिया बंगा लाए ते माए बहन कर आज गोपी चंद गुरु रे चेला आता देख रे गोपी चंद ने जब विद्या क्या गोपीचंद दोनों रे पकड़िया गुरु का पाव रे बाबा जी मेरी बहन तो मरी है चेला जले देसु भागे आप और रे नहीं या को राजा रे आवे जे ये रे बेटा तीनों भग के आप चले रे नहीं या को राजा रे भागे तो चले जवेर गोपी चंद गोर के सुर बोलो ये बाबा मोती जाई ठीक कर दीजो रे भागेंगा आप हरे गज गोपी चंद चला तन भक्त का सट मोकू दिया रे ऐसो मोको ठीक तो ना जी गोए रख जोगीन तुम्हें मैं सोचे छेटा इमरत कावदेया चम्पा वगायेत अजये तो चम्पा दे हर हर कर बैठी होगी रे माँ का जाया तुरते आज ये तो जुग में मिला बहन और भाई रे तो फिर चंद की Kekya. रे साधेगा अब जोग रे भाई तेरे लारे में रूंगे जे गोपी चंद के छाते भरे आए जब के साते रे माँ रे जाई में पिरण निभावे कुमड़े मुड़ते कमलन में तो काई तेर हो जा आज चंपा पीछा कुमड़े कतो देखा रहते नोए वत बिले मान हो जा I एक जगत छोटी मदन माय रहते नुए वत धुणा आया सेवा लेकर चेला भाई वो गोपीचंद भी बहन तो कहीं मर पड़े गोपीचंद भी मर जाएगा तो अपनी भक्ति के दोष लग जाएगा जल्दी चले और उस गोपीचंद को लाऊं तो चरपट चेला और गोरखनाथ जी गोड़ बंगाल में जाए बहन पहुंचा था तो गोपीचंद ने बहन की बात भर रखी और रोवा लगे गुरु जी आता देखा तो गोपीचंद ने बच गुरु का पाँव पकड़ लिया बाबा बहन वर्गी इसको सर दो अरे चेला तेने वो को बहुत कष्ट दिया चेला आप ऐसे करें आपको राजा आ गयो तो आप उनको तीनों को पकड़ ले गो बेटा भग चलो तीनों यहाँ हम्म। अब गोरखनाथ जी खेरिया तक यहाँ में कितनी दमे तक बहन छोड़ के भगे अक नहीं भगे बेटा को राजा आगो को नहीं तीनों भग चले आपा गोपीचंद खे बोले गो बाबा बहन बैठी कर दे नहीं गुरु जी बात है कि मैं भी तो को शराब दूंगा खत्म होंगे गोरख जोगी विद्या को पूरो जाने तुम ही में इमृत का छींटा भेड़ के दिया रे भेड़ हर घर कर बैठी कर दी तो भेड़ बैठी हो और गोपीचंद दोनों भेड़ भाई मिलवा लग गया दोनों भेड़ भाई मिला रे सतयुग में जा के तो भेड़ भाई दोनों मिला गोपीचंद की भेड़ कह लगी भाई ये बात बता तो पुण्य जोग दिवाए हम्म। के कि भेड़ मोक तो माता ने जोग देवर माता का मैंने वचन निभाया मैं तो सो मिलवा की खात आई कि धूणी मेरा चौकन में घला दूंगी और यहीं तू जोग मैं भी तेरे संग रहूंगी फिर गोपीचंद का दिल मार दोनों बहन भाई क्रोध खा करके और रोबा लग गया इंद महाराज झुकाया इंद महाराज ने झड़ी लगा दी नहीं अब बाबू गोरखनाथ के ई नहीं जा पाते कि सही हाँ अरे चंपा दे पीछा को मुड़ देख तेरा महल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो चंपा ने पीछा को मुड़ देखी और बाबा गोरखनाथ ने अपनी माया फैलाई तीनों हक में विलेमान हो गया हो गया चंपा दे उल्टी में झाँक उल्टे झाँके इस महल में कोई नजर नहीं आओ चंपा दे तो तिवाड़ो खावे कदी इतको कदी इतको महल में भगी डोले हो अब ये कितको गया तीनों इनने बिलकत छोड़ी रे चंपा दे महल के मायरे आकर के ये धोना पे पहुंचा तो आर धोना पे ये तो सब चेला और पहुंच जाता है और चंपा दे हाँसू और बिलक दे छोड़ के और चंपा दे और कंवर का एक भ्यास शादी रोप के और जब जाके और उस गोपी चंद का पता लगावा फिर माँ के जावे कुम्भ पिया धर तीनाय फट गे अमर नाय उतेरो आगे वो तो किते को बेले मान हुयो रे माँ का जाया सोए रत नाय दी

चेला भेड़ा हो गया ये रे बेटा चलो रे कजली बन के माए रे बेटा हो आप धूड़ा पे चले बोए रख आयो अब बोए रख आयो हेरे बेटा गोपी चांद चलो अब तो करूँ रे बेटा तेरा कान तो चिरूंगा मौजूद दुनिया में रिया जी धुणाए अरे सो जाए बेटा मेरा धुणा पे भी सोए जा चर पटे चेलाए तुए तोर अपना चक्को चक्को लिया का चिरू दोनों कान रे बेटा पाको चलो रे बना फैला फैला चेरा बाबा गोरख अब छा तो गोपी चंद के 啊！ गोपी चंद के छायो आज या का दूसरा कान से छोटे खून नज की धार रे गोपी चंद के खून आज निकलिया जी तो गोपी चंद दिल में जो फैला चीरा चढ़ाया जो दिया इसके दूध की धार निकसी अगर जो दिल में घबरावे नहीं और मन को चले मान नहीं करे तो वही दूसरा कान में भी दूध निकलता उन्हें गोपी चंद तो कछु घबरा गया तो जाकर के दूसरा चीरा छटाया जब कान में खून निकल जब बाबा गोरखनाथ ने कि हाँ चेलो तो थोड़ा सा तो कच्चो रह गयो अगर जो चेलो इतरो से भी होते होते तो इसके फिर भी दूध निकलता कान कान चिराया ने मुंद रा राया ने मुंद राफ राया बेटा मुंद रावे फेरो हिरे बेटा पकोरे चेलो कर तू लिया ചരപ്പാട്ടെ സോലേ ചാറും ചായറും ബൻ കെ അവ മായി जीव तो चौद से चला अपने अपने धूणा ने पे तो गया रे चौद से परगट खिंदाया दे जब रे गोर के जोगिन बचा ने सुनाया मेरी सुन रे भारत रे गोपी चंद तो चला गिरे बेटा सिर पे धर दियो त्याय रे हाथ रे अमर त्यारी रोए गई है चांद भरत री रे बेटा गोपी चांद भरत री ये रे बाबा धरती माता जाएगी और रे पीछे मारा नाम कुण तो ले गो ओए गिन ओए जुर इन पण सब दे सुनायो हिर बेटा जितने धरती जितने गोपी चंद भारत रे अमर त्यारी इतने रकाया अध्याय रे काया रे कल जुग में तो खूब तो पूजोगा जी ये बेटा कल जुग में माँ न जे बहुत रे मेलो रे ध्याय खूब तो भरे जुड़ वायरे बांधे अब रथ तो जुड़वा और बाबू गोरखनाथ और सारा चेलान को भेड़ा करके और कजली बन की सुर लगा ली तो भेंट तो वहां भी लगती रहेगी बाबा गोरखनाथ आकर के धोना पे चौथे से चेला प्रकट चौथे से गुप्त बाबा गोरखनाथ कह बोले क्योंकि भाई गोपीचंद अब पक्को चेलो तो कर भाई बेटा तू धोना पे सो जा तेरा कान चीर देगा और मुद्रा गिर देगा तो गोपी चंद राजा ઢૂણા પે સોડ્યું चरपट चेला अपनो चक्कू लिया तो अब एक से एक चक्कू पड़का मारता और वो गोपी चंद को दिखावे तक अब भी आपको कोई तक भीतर सु आप जाए और ये डिगे डिगे मान हो जाए तो शायद अब भी आपको अपनो पिंड छोड़ जाए हम्म। पर ये गोपी चंद राजा तो ने एक नई तिल पर हटो बाबा जी ने फैलो चीरो कान में छेड़ायो तो सतवादी राजा खून की वाह दूध की धार निकसी दूध की धार निकते धार गोपीचंद ने देखी तो गोपीचंद दिल में कभी शंका लिया तो बाबा जी कच्चा कान जिनमें दूध निकास दूसरा चीरा छटाया जो संख्या नहीं लिया तो उस कान में दूध निकसे संख्या लिया है फिर दूसरा चीरा छटाया जो खून गुरु जब गोरखनाथ जी जान गए वो तो हाँ कच्चे लो यार थोड़ा सा कच्चो नहीं चेला में कोई रड़क नहीं है चेला ने जो बात की जो इतरा बचन ने बना अरे बेटा गोपी चंद जो इतनी संख्या दिल में नहीं लिया तो तो तेरे वही दूध निकसता खून के नहीं निकसता काम बोले जा बेटा मैंने मुद्रा फहरा दी जा तेरा मामा पर तो मैंने हाथ धर दो जाओ तेरी अमर का आया भरतरी गोपी के जाओ धरती और रो दोनों गोपीचंद चंद भरतरी मामा जाओ जी तो बोले गुरु जी जब धरती माता चली जाएगी जो हमारा कौन नाम लेगा और हमको कौन माने गुरु जी ने फिर ज्ञान कराया कि ये तो सब तेने अब जब धरती माता चली जाएगी जब इनको माने रखो कि जाओ बेटा जितने रहेगी धरती जितने इस धरती माता पे थम रहोगा जाओ तेरी अमर का जब धरती चली जाएगी जन तुम भी चले जाओगे नहीं जितने धरती जितने रहोगे चंद अम्बर भरतना तो गोपी चंद और भर्तरी की अमर काया गोरखनाथ जी ने कर दी जाओ बेटा यहाँ रहो कहीं भी तपो अब तुमको कोई दुनिया में रोकन हारा नहीं है बहन के फूल कंवर शादी के लायक व्या चप्पा दे और फूल कंवर की शादी रोकते बांधी गिरी बांधी अरे बिलकत छोड़ गए माँ को जाए अब आप भात नौतवा चलेगा और गोपी चंद तो जरूर मिलेगा तो चंपा देगा ये संदेह ही एक भाई गांव में ही पाल धारानगरी में पाया कहीं नहीं गया तो कैसे बांधी और चंपा देख धारा नगरी को आवे हैं और एक धारा नगरी में आर माता सूर्य के इनके बातचीत हुए हैं

काकाए रे पवाय करी मैया सग राय बुलाए ले मेरा कोट मैं बुलवाए ले येरी माता साए रो कोट में ले बुलवाए ये भात मैं तो नौ तन आ राय रे आया ये सग बैठा देख आज आए कौन गिरी माता गोपी चांद खा को खेदायो रे गोपी चांद मोय बता जी इतनी अरसण के माता को ही यो भरे आयो छाती भरे भरे आई नैनन आंसू आया और के जल के छूटे ननन धार रे माता मैं तो बात नोतवा और तुमको ये बात पता तू रोबा की लगी तू छाती की भर ले आई हेरी माता गोपी चंद बता दे मुख आ रे गोपी चंद કાપ ગયો જે कर ले अब्बा जर के छाते मन आ जर को ही अब्बा जर के कर ले छाते येरी बेटा छाते के जुड़ो बजर ताड़ो रे गोपी चंद मेरे जन म्यो पण ना छाते जुड़ो बाजार रे गोपी चंद तो जन्म्यो माता माता गोपी चंद तो जन्म्यो तेरे और रे aku